ले खुद ही अपनी किताब आप पढ़ ले आज तो तू आप ही अपना खुद हिसाब लेने को काफी है